पहली जून 1982 मैंने defence research and development laboratory DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली उस वक्त के defence minister Shri R Venkataraman ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा ब दर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस का सबूत था सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया टैक्टिकल कोर वहीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया surface to air defence system Akash कहलाया एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे डेरीना खाब रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था वो बड़े ताजुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्नीस की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई मेरे लिए वो एक और सदमा था पहली एसएलवी की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया प्रोफेसर सारा भाई अगर वीएसएससी के निर्माता थे बनाने वाले थे तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे एग्जीक्यूटर थे उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था उनके बर्ताव और सलूक में ये बात नज़र आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है यहां तक कि अफसर भी लीडर भी रहनुमा भी वो बहुत बड़े दानश्वर थे एक कमज़ोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नज़र आते थे पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए 25 फरवरी 1988 सुबह ग्यारह बजकर तेईस मिनट पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़ हुई हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था फ्यूचर का मॉड्यूल था वो पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो मिसाइल की ईजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे अग्नि की परवाज 20 अप्रैल उन्नीस तय पाई थी लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थीं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया परवाज से सिर्फ चौदह सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी वो फौरन ठीक कर दी गई लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई अखबार ने आस्तीनें चढ़ा ली हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहत निकाल ली कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था अग्नि की तरह वो भी नहीं चली एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है सब ठीक था स्विच बटन नहीं चला हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है डरने की कोई बात नहीं यह बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है इससे कोई मरेगा नहीं करीब दस रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदान ने एक नई तारीख तय की अग्नि की प्रवास के लिए मगर फिर वही हुआ दस सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है प्रवास फिर मुलतवी कर दी गई ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है दो चार बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई उसकी पिछली रात doctor Arunachalam general K N Singh और मैं डिफेंस मिनिस्टर के सी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे पूरे चांद की रात थी हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा कलाम कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम मैं क्या चाहता था क्या था जो नहीं था मेरे पास अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए और अचानक मुझे जवाब मिल गया हम एक लाख पेड़ों की कोंपले लगाएंगे मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो बोले कल यही होगा उन्होंने पेश गोई की अगले दिन सुबह सात बजकर दस मिनट पर अग्नि लॉन्च हुई कदम कदम सही निकला मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर ली हो जैसे सबक याद कर लिया था हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है पांच साल की मुशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे इसके पीछे पांच लंबे सालों की नाकामयाबी कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो वो मुट्ठी भर सेकंड्स 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा अग्नि को इस नजर से मत देखो ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है न शक्ति की नुमाइश है अग्नि एक लॉ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है इसे मिसाइल मत समझो ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् किमपि चावेक्ष्या विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादि युद्ध न विद्यते अदच्चे त्वम् इमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि तदस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि जित्वा पापम् अवाप्स्यसि